सुनियत मुरली देखल जात सुनियत मुरली देखल जात दो रही तय सिंहासन बैठे दो ते सिंहासन बैठे शीसनाई मुस्कान सुनत हमारी चर्चा चालत ही चपि जात सुरभि लिखत चित्र की रेखा सोचे हूँ सकुचात सुरदास जो ब्रज विसार्यो दूध दही कत खात खात सूरदास जी के शब्दों में एक गोपी कह रही है सखी सुना जाता है कि वहाँ श्याम सुंदर अब बंसी देख कर लजा जाते और लोगों से दूर ही सिंहासन पर बैठे सिर झुकाए मुस्कुराते हैं खोलकर हंसते भी नहीं मयूर पिक्ष का बना पंखा देखकर अन्य बातों में लगकर अपने मन को बहलाने दूसरी ओर ले जाते हैं और यदि कहीं हमारी चर्चा सुनते हैं तो उस चर्चा के चलते ही लज्जित हो जाते हैं यही नहीं वे चित्र की रेखाओं में बनाई जाने वाली गाय की बात सोचकर संकुचित हो जाते हैं जिन्होंने ब्रज को इस प्रकार विस्मृत कर दिया है तो वे दूध दही कैसे खाते होंगे अर्थात उन्हें देखकर भी डर जाते होंगे कहा देसी की पतियात कहा परदेसी की पतियात पीत बढ़ाई चले मधुबन को बिछुर दियो दुख भारो जो जल ही नबीन तरफत है तो व्याकुल प्राण हमारो सूरदास प्रभु के दर्शन बिन सूरदास प्रभु के दर्शन बिन दीपक भो न उधारो दीपक भो न अंधारो कहाँ देश प्यारो कहाँ परदेसी सूरदास जी के शब्दों में कोई गोपी कह रही है सखी परदेसी का विश्वास क्या वे तो हमसे प्रेम बढ़ाकर मथुरा चले गए और हमें वियोग का भारी दुख दे गए जैसे जल से रहित निकाली हुई मछली तड़पती है वैसे ही उनके बिना हमारे प्राण व्याकुल हो रहे हैं आज स्वामी के दर्शन रूपी दीपक के बिना व्रज रूपी भवन में अंधकार हो गया है कहा परदेसी को रो कहा परदेसी को रो पीछे ही पछताई मिलोगे निश्चय ही पछताई मिलोगे प्रीत बढ़ाए सिधारो प्रीत बढ़ाए सिधारो जो मृगनाद रिझ तन दीनो जो मृगनाद रीझ तन दीनो लाग्यो बान बिसारो प्रीति लिए प्राण बस की हो हरि तुम यह विचारो बलियरु बाल सुपन खाब पुरी बलियरु बाल सुपन खाब पुरी हरि तय कहाँ दुरायो सूरदास प्रभु जान भले हो भयो धराय धरायो भये धराय धरायो सूरदास जी के शब्दों में एक गोपी कह रही है सखी परदेसी का क्या विश्वास क्योंकि वह प्रेम बढ़ाकर चला तो जाएगा और पीछे केवल पश्चाताप मिलेगा जैसे हिरण ने संगीत के स्वर पर मुग्ध होकर शरीर ने उछावर कर दिया क्योंकि उसे प्रेम के कारण ही व्यास का विषैला बाण लगा उसी प्रकार श्याम सुंदर तुमने हमारे प्राणों को अपने प्रेम में लगाकर वश में कर लिया इसका विचार तो करो हे हरि राजा बल ने कपिराज बाली ने तथा बेचारी सुरपणखा ने तुमसे क्या छिपाया था जो उनके साथ निष्ठुर व्यवहार किया स्वामी मैंने भला जानकर ही तुम्हें अपने अंतकरण में भरा संचित किया था किंतु तुमने अपने स्वरूप को भर पूर्ण करके ढुलका दिया अपने आप को खींच लिया सखीरी हरि दो सजन देहू सखीरी हरि दो सजन दुख पावत मेरो कपट सने हो सखरी हरि दोष जन देहु विद्यमान अपने ननय ननी सुनौ देखति गेहू तदपि सखी ब्रजनाथ उर मटिन होत बड़ बेहू सखीरी हरि दोष जन देहू कही कही कथा पुरातन सजनी कही कही कथा पुरातन सजनी अब नहीं अंत ही ले हूँ सूरदास तन यजु कर गे सूरदास तन यजुग करूँगी जो फिर फागुन में हूँ जी के शब्दों में कोई दूसरी गोपी कहती है सखी श्याम सुंदर को दोष मत दो मैं अपने चित्त में इसीलिए इतना दुख पाती हूँ कि मेरा प्रेम ही कपटपूर्ण था अपने इन नेत्रों के रहते घर को सूना देखती हूँ फिर भी सखी ब्रजनाथ के बिना हृदय फट कर बड़ा नहीं हो जाता सखी बार बार श्याम सुंदर के मिलन की पुरानी कथाएं कह कह कर अब प्राण मत लो अब मैं अपने शरीर को ऐसा बना लूंगी जैसे फाल्गुन में फिर वर्षा अर्थात जीवन को नए ढंग से प्रारंभ करना है जैसे फाल्गुन में पुनः वर्षा आ जाती है अब कछु और ही चाल चली अब कछु और ही चाल चली मदन गोपाल बिनाया ब्रज के सब बात बदली मदन गोपाल बिनाया ब्रज की सब बात बदली अब कछु और चाल चली अब कछु और चाल चली गृह कंदरा समान ज भई गृह कंदरा समान ज भई सिंह सिंह सिंहु चाहि बली शीतल चंद सुतो सखी कहियत ताते अधिक जली अब कछुओ रही चाल चली अब कछु और ही चाल चली मृग मद मलय कपूर कुमकुमा मृग मद मलय कपूर कुमकुमा सीचतियानियली एक न फुरत बिरह जुरत कछुम एक न फुरत बिरह जुरते कछु लागत नाही भली अमृत बेली सुर के प्रभु बिनु अब विषय फलन ही फली हरि विधु विमुख नाहिने बिगसत मनसा कुमुद कली सफल निफली लागत नहीं फली सिंचति आनियली ताते अधिक जली तेज भई सिंह चाह बली सब बात बदली अब कछु और चाल चली कछु और चाल चली सूरदास जी के शब्दों में एक गोपी कह रही है सखी अब कुछ दूसरी ही चाल प्रथा चल पड़ी है देखो ना मदन गोपाल के बिना इस ब्रज की सब बात बदल गई है घर पर्वत की गुफा के समान हो गया और सैया सिंह से भी अधिक कठोर असह्य हो गई है सखी चंद्रमा शीतल कहा जाता है पर मैं उससे अधिक जली संतप्त हूँ सखियाँ मुझे कस्तूरी चंदन कपूर कुमकुम केसर लाकर सींचती उनका लेप करती हैं किंतु वियोग के ज्वर के कारण उनमें से एक भी लाभ नहीं करता और न वह अच्छा ही लगता है स्वामी के बिना प्रेम की अमृतलता अब विष के फल फल रही है और न श्याम सुंदर के चंद्रमुख के बिना मन रूपी कुमुदनी की कली का विकसित होती है अब वे बातें उलट गई जिन बातन लागत सुखयाली आली ते भई अब वे बातें उलट गई रजनी जाम श्याम सुंदर संग हर पावस की गरजनी सुख समूह की अवधि माधुरी प्रिय रस बस की तरजनी मोर पुकार गुहार को किला अलगुंजार सुहाई अबला गति पुकार दादुर सम बिनहि कुंवर कन्हाई चंदन चंद समीर यगिन सम तिनहि देत दवलाई कालिंदी अरु कमल कुसुम सब दर्शन ही दुखदाई शरद बसंत शिशिर अरु ग्रीषम मृतु की अधिकाई पावस जर सूर के प्रभु बिन तरफत रैन बिहाई तरफत रैन बिहाई सूरदास जी के शब्दों में कोई गोपी कह रही है सखी अब वे बातें ही उल्टी हो गई हैं सखी जिन बातों से पहले सुख मिलता था वे भी अब दुस्सह कष्टदायी हो गई है श्याम सुंदर के साथ रात के प्रहर में रहते समय वर्षा ऋतु की गर्जना भी आनंद समूह की अपरमित सीमा थी तथा प्रियतम का प्रेमवश डांटना भी बड़ा मधुर लगता था यही नहीं उस समय मयूरों का पुकारना बोलना कोकिल का कुहकाना और भौरों की गुंजार सुहावनी लगती थी किंतु अब वे ही कुंवर कन्हैया के बिना सब मेढक के टर्राने जैसी लगती है चंदन चंद्रमा और पवन भी अग्नि के समान शरीर में ज्वाला उत्पन्न कर देते हैं तथा यमुना और कमल के पुष्प सब देखने में ही दुखदायक लगते हैं शरद बसंत शिशिर और ग्रीष्म ऋतुओं में हेमंत ऋतु की ही अधिकता रहने लगी है तथा वर्षा ऋतु में मैं स्वामी के बिना जलती रहती हूँ तथा तड़पते हुए रात्रि व्यतीत करती हूँ अब वे मधुपुरी है माधो अब वे मधुपुरी है माधो जिनको बदन बिलोकत नैनन जिनके बदन बिलोकत नैनन जुग हो तो पल आधो अब वे मधुपुरी है माधव जे कारण आरिन गई घर तय जिय पद कमलिनी बांधो ही अंतर चित चाह दाह सो लाज महाबन दाधो सो सपने दीठिन आवत जो यही जतनन लाधो सुरदास तिह देखन कारण नैन मरत है साधो नैन मरत है साधो अब वे मधुपुरी है माधो अब वे मधुपुरी है माधो सूरदास जी के शब्दों में एक गोपी कह रही है सखी अब वे माधव मथुरा में हैं जिनका श्रीमुख देखते हुए नेत्रों को एक युग भी आधे पल के समान हो जाता था जिनके लिए मैं घर से बहुत जिद्द हट करके गई और उनके चरण कमलों में चित्त को बांधा लगाया तथा अपने हृदय के भीतर प्रेम की ज्वाला से लज्जा के महान वन को जला दिया वे अब स्वप्न में भी दिखाई नहीं पड़ते जिन्हें इतने यत्नों से पाया था अब उनको देखने की लालसा में ही नेत्र मरे जाते हैं